अंतर्मुखी बनेंगे ओ इस कक्षा का नाम है अंतर यात्रा साधक व्यक्ति जहां ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करता है ध्यान के काल में एकाग्र होता है वहां ईश्वर के स्मरण प्रार्थना के अतिरिक्त और भी बहुत सी बातें करनी होती हैं कुछ मूलभूत परीक्षण और निरीक्षण करने आवश्यक होते हैं उन निरीक्षणों परीक्षणों को करके निर्णय निकालने भी आवश्यक होते हैं ये अध्यात्म का मार्ग केवल ईश्वर की स्तुति प्रार्थना पर अधिक लंबा नहीं चल पाता है ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना अध्यात्म का अत्यावश्यक अंग है इसके बिना भी गति नहीं है किंतु केवल ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना करने में भी गति नहीं है बहुत से साधक साधिकाएं आपको मिलेंगे आप में से भी हो सकते हैं अपने अपने अनुभव होते हैं सतत परमात्मा का स्मरण ओम का जप मंत्र का उच्चारण अर्थ की भावना अच्छी बातें हैं बहुत अच्छी बातें हैं उनको करने से बहुत परिवर्तन आता है अच्छी प्रगति होती है किंतु योग साधना को सर्वांगीण रूप से संपन्न करने के लिए और पूरी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कुछ और बातों का भी विचार चिंतन मनन करना आवश्यक होता है और ये प्रक्रियाएं भी जब गंभीर स्तर पर की जाती हैं तो वो बैठ करके ध्यान जैसी स्थिति में ही की जाती है जिन स्थितियों में हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करते हैं उन्हीं स्थितियों को बना के आसन लगा करके प्रत्याहार बना के धारणा लगा करके फिर ये क्रियाएं की जाती हैं यदि इन क्रियाओं को न करके अथवा बहुत कम करके मात्र सुन करके और स्वीकार करके अध्यात्म में कोई चलेगा तो अधिक नहीं चल पाता है बहुत सारी बातें हमने सुन ली हैं एक स्तर पर विचार भी लिए हैं एक स्तर पर निर्णय भी किए हैं किंतु ध्यानावस्थित होकर के उन पर गंभीरता से सूक्ष्मता से विचार करना और अपने साथ में जोड़ना उसे मेरी क्या स्थिति है ये सब आंतरिक जगत के कार्य हैं यही अंतर यात्रा है जिस प्रकार से संसार की वस्तुओं को देखने हम यात्रा करते हैं घूमते हैं उससे हमारा परिचय होता है यहां ऐसा है यहां ऐसा है और उससे कुछ सीख निकलती है हमें कुछ अनुभव बनता है इसी प्रकार से अपने मन को देखने के लिए अंदर यात्रा करनी होती है आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ आवश्यक अभ्यासों को बिंदुओं को इस अंतर यात्रा में आपको बताया जाएगा और करवाया जाएगा आज एक मूलभूत विषय प्रारंभिक विषय आपके सामने रख रहा हूं सामान्य सा प्रश्न है कि मैं कौन हूं बहुत सामान्य प्रश्न है सांसारिक व्यक्ति से भी पूछें तो वो कुछ बताएगा मैं ये हूं बच्चे से पूछें आप कौन हैं वो भी बताएगा मैं ये हूं अध्यात्म में आने के बाद में हम सुनते हैं बहुत कुछ कि मैं कौन हूं सांसारिक अवस्था में जिसको मैं मानते थे आध्यात्मिक अवस्था में वो मैं बदल जाता है मैं आखिर हूं कौन मैं ये शरीर हूं अथवा आत्मा हूं ये घर परिवार में हूं ये धन संपत्ति यश पद प्रतिष्ठा में हूं ये राष्ट्र ये धर्म ये संप्रदाय ये मान्यता ये मैं हूं अथवा इनसे भिन्न कुछ मैं हूं आप में से अधिकांश इस बात को स्वीकारते होंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूं आत्मा हूं अध्यात्म में इसको क्यों बल दिया जाता है ये समझो कि मैं कौन हूं और इस मैं कौन का जानना इतना महत्वपूर्ण है कि इसका ठीक ज्ञान संप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था में होता है संप्रज्ञात के भिन्न भिन्न स्तरों में सबसे अंत में आत्मा का प्रत्यक्ष होता है आखिर मैं कौन हूं ये मैं कौन हूं जानना बिल्कुल ठीक ठीक ये सामान्य बात नहीं है सामान्यतया हम समझते हैं मैं कौन हूं और जिसे मैं कौन हूं का बोध हो गया उसका आध्यात्मिक मार्ग कैसा हो जाता है उसका व्यवहार कैसा हो जाता है उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो जाती है वो कुछ अंतर आना चाहिए जो व्यक्ति शरीर को मैं समझता है उसका व्यवहार क्या होगा और जो आत्मा को मैं समझता है उसका व्यवहार क्या होगा पहला ध्यान के समय का अभ्यास अभी ये करना है हम स्वयं विचारने लगे कि मैं कौन हूं यदि मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर क्यों नहीं हूं मैं यदि मैं मन नहीं हूं तो क्यों नहीं हूं मैं मन मैं बुद्धि नहीं हूं तो क्यों नहीं हूं मन और यदि चेतन आत्मा हूं तो क्यों वही मैं हूं बचपन से लेके अब तक शरीर की विभिन्न अवस्थाओं को हम अनुभव करते हैं शरीर की अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं हमें खूब आभास है कि मैं पहले ऐसा था अब ऐसा हूं अब ऐसा हूं लेकिन इन सब अनुभूतियों के साथ जो मैं पने की अनुभूति है वो बदलती है या वही रहती है बचपन से लेके अब तक मैं बहुत परिवर्तित हो गया हूं शरीर की दृष्टि से ये हमें पता लगता है किंतु अंदर आत्मा के स्तर पे क्या अनुभव होता है बचपन में कोई और आत्मा थी वो परिवर्तित होके अब कुछ और बन गई है अथवा वही है जिस समय मैं रुग्ण हूं शरीर परिवर्तित है अवस्था बदल गई है लेकिन तब भी एक आभास है मैं हूं और जब स्वस्थ थे तब भी शरीर की एक स्थिति थी तब भी अनुभव करते थे मैं यह हूं इन दोनों स्थितियों में जो मैं पने की अनुभूति है उसमें क्या अंतर आता है यह हो सकता है कि मैं दुखी हूं और मैं सुखी हूं यह अंतर हमें दिखाई देता है और हम सुखी दुखी होते भी हैं लेकिन फिर भी जो मैं है जो मैं सुखी था जो मैं दुखी था या हूं वो मैं भिन्न भिन्न है या वही है जो सुखी था वही मैं अब दुखी हूं अथवा कोई मैं भिन्न हो गया हूं कोई मैं भिन्न हूं बाल्यावस्था में जो मैं था वही मैं आज हूं अथवा कुछ भिन्न हूं इन पे हमें विचार करना है स्वयं अपना निरीक्षण करना है और फिर ये देखना है कि मैं संसार का व्यवहार करते हुए किसको मैं मान करके चल रहा होता हूं मैं शब्द का उच्चारण करते हुए मन में मैं का क्या स्वरूप आता है आत्मा को मानते हुए या शरीर को मानते हुए जब हम शरीर को मैं मान के चलते हैं तो हम शरीर के लिए हितकारी कार्य करते हैं शरीर के लिए अहितकर कार्य नहीं करते जिससे शरीर को सुख सुविधा हो उसे पाने का उसे रखने का संभालने का कार्य करते जब हम आत्मा को मैं मानते हैं जो आत्मा को मैं मानते हैं वो भी शरीर का ध्यान रखते हैं शरीर की सुख सुविधाओं का ध्यान वो भी रखते हैं रुग्ण होने पे उपचार वो भी कराते हैं प्यास लगने पे पानी वो भी पीते हैं भोजन वो भी करते हैं किंतु फिर भी व्यवहारों में अंतर होता है जो केवल शरीर को मैं मानता है वो ये ध्यान नहीं रखता कि इस तरह के कर्म से इस तरह की कमाई से इस तरह के व्यवहार से शरीर को भले ही अनुकूलता मिल रही है सुख मिल रहा है लेकिन ये आत्मा के लिए हितकर है या नहीं है वो कुछ भी विचार नहीं करते जो आत्मा को मैं मानते हैं और शरीर को साधन मानते हैं वो भी शरीर के लिए प्रयत्न करते हैं किंतु वो ये ध्यान रखते हैं कि शरीर की रक्षा के लिए शरीर की अनुकूलता सुख सुविधा के लिए किया गया ये कार्य आत्मा के लिए अर्थात मेरे लिए हितकर है या नहीं है शरीर के लिए जो सुख सुविधाएं चाहिए वो धर्म पूर्वक भी कमाई जा सकती हैं अधर्म पूर्वक भी संपादित की जा सकती हैं किसी भी तरह से कमाए शरीर के लिए तो वो समान अनुकूलता सुख प्रदान करते हैं जो आत्मा को मैं मानता है वहां वो ऐसे कर्म नहीं करता जो शरीर के लिए तो अनुकूल हो लेकिन आत्मा के लिए प्रतिकूल हो हानिकारक हो वो ऐसे कर्म करता है जो शरीर के लिए भी अनुकूल हो और आत्मा के लिए भी अनुकूल हो और यदि कभी ऐसी स्थिति बनती है जहां एक ही का अनुकूलता हो एक ही का हित होता हो आत्मा का या शरीर का और उसी उपाय को उसे अपनाना भी है दो में से किसी एक को तो जो आत्मा को मैं मानता है वो शरीर को हानि पहुंचाने वाले किंतु आत्मा के लिए हितकर या आत्मा को जिससे हानि ना हो ऐसे काम को भले ही कर लेगा लेकिन जो शरीर को मैं मानता है वो इस बात की चिंता नहीं करेगा कि इससे आत्मा को हानि होती है वो केवल इस आधार पर निर्णय लेगा कि इससे शरीर को अनुकूलता और सुख मिल रहा है शरीर की जिससे हानि होती हो उसे वो कभी नहीं करेगा लेकिन जो आत्मा को मैं मानता है वो कुछ कर्म ऐसे करते हुए दिख सकता है जिससे शरीर को भले ही हानि हो रही हो लेकिन आत्मा का बहुत बड़ा हित हो रहा हो इस गर्मी को तो कोई पसंद नहीं करेगा जो केवल शरीर को मैं मानता है वो गर्मी को अनुकूल नहीं समझेगा लेकिन जो आत्मा को मैं मानता है वो आत्मा के हित के कार्य में शरीर की इस विपरीत स्थिति को भी प्रसन्नता से सहन कर लेगा ऐसा हम प्राय करते रहते हैं लेकिन क्या हम प्रत्येक कर्म के समय इस मैं को यानी आत्मा को ध्यान रखते हुए कर्म करते हैं ये साधक के लिए जानना समझना देखना और उसमें सुधार करना बहुत आवश्यक है नहीं तो बहुत सी बाह्य आध्यात्मिक क्रियाओं को करते हुए भी व्यवहार में उसके निर्णय गलत होते रहेंगे हर व्यक्ति हर प्राणी हर आत्मा अपने हित के लिए ही कार्य करता है अपने अहित के लिए कभी नहीं करता लेकिन जो आत्मा के अहित के लिए कार्य कर रहा है भले ही शरीर का हित हो रहा हो उसका सीधा सा अर्थ यह है कि ये मैं को नहीं समझ पाया है कि मैं कौन हूं जिस दिन उसको ये समझ में आ जाए कि मैं यानी ये चेतन आत्मा उस दिन वो आत्मा के लिए हानिकारक कर्म कर ही नहीं सकता है कभी नहीं करेगा क्योंकि कोई भी आत्मा कोई भी प्राणी अपने अहित के लिए अपनी हानि के लिए करता ही नहीं है उसका स्वभाव ही नहीं है वो सदा अपने हित के लिए ही करता है सांसारिक व्यक्ति अधार्मिक व्यक्ति लौकिक व्यक्ति जब अपने लिए काम करता है वो अपने शरीर और जड़ वस्तुओं के लिए कार्य कर रहा होता है वो भी अपने लिए ही कर रहा होता है क्योंकि वही उन्हीं को वो अपना मैं समझता है और आध्यात्मिक व्यक्ति भी अपने लिए काम करता है परोपकार करता हुआ भी वो अपने लिए कार्य करता है वो धन को खर्च करता हुआ समय को खर्च करता हुआ दूसरे शब्दों में कहें तो धन की हानि करता हुआ समय की हानि करता हुआ श्रम की हानि करता हुआ भी उसे कर रहा होता है अर्थात वो इसको मैं नहीं मानता वो और किसी चीज को मैं मान रहा है वो है आत्मा तो आज की अंतर यात्रा में 10 मिनट के लिए आपको बैठना है प्रथम बिंदु ये देखना है पांच मिनट मैं कौन हूं भले ही अब तक कितना भी समझा है सीखा है सुना है फिर भी देखना है थोड़ा मैं कौन हूं और अगले पांच मिनट में ये देखना है कि मेरा जो आजकल जीवन चल रहा है यानी शिविर से पहले उसमें उन व्यवहारों में मैं स्वयं को क्या मानते हुए कर्म कर रहा था आत्मा को मानते हुए या शरीर को मैं मानते हुए ये अपने अपने कुछ कर्मों का मुख्य मुख्य घटनाओं का परीक्षण करना है कुछ घटनाओं को जिसकी जो इच्छा हो वो ले लीजिएगा ये भी देख सकते हैं कि मेरे एक वर्ष में दो वर्ष में बचपन से लेके अब तक कुल मिलाकर के मैंने अपने लिए काम किया है लेकिन उस समय मैं कौन था किसको मैं मान के मैंने काम किया है और अब मैं साधक बन रहा हूं या गंभीर साधना में जा रहा हूं तो मुझे किसको मैं मान के काम करना है और आत्मा को मैं मान के करूंगा तो आजकल जो मैं कार्य कर रहा हूं उसमें कहां कहां परिवर्तन हो जाएगा दस मिनट का समय बहुत कम है एक केवल अनुभव आपको यहां पर मिलेगा बाकी ये कार्य आपको जब भी समय मिले वहां कर सकते हैं या घर में जाकर के जब आपको समय मिले एकांत पास हो वहां इन कार्यों को करेंगे तो सीधे बैठ जाइए नेत्रों को बंद कर लें आसन की स्थिति सम्यक कर लें मन को धारणा स्थल पर लगा लें प्रारंभ करें मैं कौन हूं केवल एक बिंदु पर चिंतन ध्यान मैं कौन हूं अपने ज्ञान की स्थिति को देखें क्या मैं ये निर्णय कर चुका हूं मैं कौन हूं अथवा ये विचारणीय बिंदु अभी भी बना हुआ है मैं कौन हूं वर्षों के अध्ययन के बाद स्वाध्याय के बाद क्या अभी भी ये विचारणीय बिंदु है मैं कौन हूं अथवा सब स्पष्ट हो चुका है मैं कौन हूं आप आगे विचार करें अपने व्यवहारों को स्मृति में लाएं जिस समय मैं मैं का व्यवहार कर रहा होता हूं तब मैं किसको मैं मान रहा होता हूं व्यवहार काल में किसे मैं मान रहा होता हूं मेरे व्यवहार किस ओर संकेत करते हैं कि यह साधक किसे मैं मान रहा है अपने किसी एक या कुछ व्यवहारों को ध्यान से देखें स्मरण में लाके अब कुछ देर के लिए ये परिदृश्य मन में लाएं, परिकल्पना करें जिस समय मैं स्वयं को चेतन नित्य निराकार एकदेशी आत्मा मानकर चलूंगा तब मेरा व्यवहार कैसा होगा स्वयं को निराकार चेतन मानते हुए उन्हीं व्यवहारों में रख करके देखने का प्रयास करें इन पिछले व्यवहारों में आत्मा को मैं मान के यदि मैं चलूं फिर से मैं उन व्यवहारों में प्रवेश कर रहा हूं आत्मा को मैं मानते हुए तो अब कैसा व्यवहार होगा रुकेंगे नेत्रों को अभी बंद रखेंगे दिन में शिविर काल में भी कार्यों को करते हुए बीच बीच में देखें कि यह क्रिया करते समय मैं अपना क्या स्वरूप मान के इसे कर रहा हूं और समय मिलने पर फिर से अपना निरीक्षण करते रहें आप परमात्मा का स्मरण करते हुए इस कक्षा को समाप्त करेंगे ओ दृष्टि नीची रखते हुए मौन रखते हुए यहाँ से प्रस्थान करेंगे जिनका सेवा का कार्य है भोजन वितरण का वो भी वहां पहुंचेंगे और इन्हीं भावनाओं को रखते हुए कार्य करेंगे जिन माताओं बहनों का फल या ककड़ी आदि काटने का कार्य है वे भी वहां पर पहुंचेंगे ओम शम